तकनीकी के बारे में बात अपन सोचते हैं इसी को इसी में इंजीनियरिंग आता है हाँ। उसमें रासायनिक तंत्र भी आता है है ना भौतिक तंत्र भी आता है ठीक है ना और यांत्रिकी तंत्र भी आता है तो इन्हीं तंत्रों को जो हम समन्वय करते हैं उत्पादन के लिए एक अनुकूल परिस्थितियों को बनाते हैं अनुकूल योजना बनाते हैं और इन सभी तकनीकों को नियोजित करके उत्पादन कार्य को संपादित करते हैं बात ये उसी के साथ साथ एक सड़क हुआ है ना सेतु हुआ है ना बड़े बड़े यंत्र हुआ इन सबको बनाने के लिए भी हम जो ये तकनीकी का प्रयोग करते हैं तकनीकी किसी विचारधारा से विचारधारा का उपज नहीं है मनुष्य की आवश्यकता का उपज है सभी तकनीकी सभी तकनीकी अभी यावत तकनीकी है प्रक्रिया हमारा आवश्यकता के आधार पर उपजी हुई तकनीकिया है ये विचारधारा के आधार पर नहीं आया है जैसा भौतिकवाद के आधार पर कोई तकनीकी आए ऐसा कुछ भी गवाही नहीं है अध्यात्मवाद के आधार पर कोई तकनीकी आ गई ऐसा कोई गवाही नहीं है ठीक है तो सहअस्तित्व को ध्यान करने पर भी यही निकलता है सहअस्तित्व के आधार पर कोई तकनीकी तकनीकी निर्धारित होगी ऐसा नहीं है सहअस्तित्व के लिए हम तकनीकी को उपयोग करते हैं एक आवश्यकता के आधार पर तकनीकी आती है हल जोतने की आवश्यकता आई आई हल बनाने की तकनीकी आ गई इतनी ही बात है और गाड़ी गाड़ी की आवश्यकता आ गई चक्के का आविष्कार हो गए ठीक है और हमको उष्मा की जरूरत पड़ी आग का आविष्कार हो गया आग आग को हम सहस्तित्ववादी विधि से आग, आग कैसा पैदा करोगे ये कोई भाषा नहीं है है ना सहस्तित्व विधि में हम ईंधन विधि को पहचानेंगे ठीक है ईंधन है जो कुछ भी मैंने हम उष्मा चाहिए वो सब ईंधन ही न कहलाता है उसको हम सहअस्तित्ववादी विधि से ईंधन नियोजन को हम पहचानेंगे उसके बारे में बात हो चुकी है किसको ईंधन विधि को तकनीकी है ही है ईंधन विधि हमको पता ही है हाँ। ईंधन क्या है हमको पता ही है अभी पहले अपन विचार किए तो कोयला को कोड़ना तकनीकी है हाँ। ठीक है ना कोयला को जलाना कोयला को जलाना आग से आग जलता है सिद्धांत है ठीक है ना आग से ईंधन जलता है ईंधन से आग होता है दो पद्धति है यह ईंधन को यह यदि हम जैसा यह इंजन में वगैरह में तेल को इतना दबाव में लाते हैं वो जल जाता है ठीक है एक विधि वो है दबाव के दबाव वश ईंधन अपने को होना वो प्रज्वलित हो जाना एक विधि है और आग से आग जलना एक विधि है ऐसा वही पेट्रोल इंजन में क्या होता है पेट्रोल इंजन में आग से आग जल जाता है ठीक हो गई बात हो गई और ये न दबाव से जलता है इन दोनों को आप हम सब देखे ही हैं समझे ही हैं ये ये तकनीकी को हम सहस्तित्व विधि से नियोजित करते हैं वो खनिज तेल को हम उपयोग करेंगे नहीं उसकी जगह में तैली या यंत्रों को चलाना होगा तो तैली वृक्षों को हम वृक्षों के बीज से हम तेल तेल प्राप्त करेंगे उस तेल से यंत्रों को चलाएंगे हाँ, लेकिन ये हम यंत्र नहीं चलाएंगे ऐसा नहीं है कोयले से क्यों क्यों ऐसा करोगे पूछा ईंधनावशेष जो है ना धरती की वातावरण के लिए हानिप्रद हो गई धरती का वातावरण बिगड़ने के बाद धरती में बुखार आए इसको इससे इसके दवाई के लिए हम इसको अवॉइड करेंगे क्या बोलिए साहब इसमें क्या तकलीफ है का जो कोयले को जलाकर हम गति पैदा कर रहे हैं हम्म। इसको तकनीकी कहेंगे कि नहीं कहेंगे ना हाँ बर्बादी के लिए तकनीकी के उपयोग किया तो इसको बदलने की उसको तकनीकी को हम आबादी के लिए नियोजित करेंगे सहअस्तित्ववादी विधि से वही तकनीकी को सहस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए करेंगे क्या तकलीफ है इसमें तकनीकी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है वो तकनीकी ही है आदमी को आबाद करने के लिए आदमी को बर्बाद करने के लिए दोनों के लिए तकनीकी लगती है बात ठीक हो गया वैसे ही धरती को आबाद करने के लिए बर्बाद करने के लिए तकनीकी लगता है उत्पादन को संपादित करने के लिए ठीक है ना उत्पादित वस्तुओं को बर्बाद करने के लिए तकनीकी लगते ही है अभी आप देखते ही हो ये डायनामेट लगाते हैं बिल्डिंग धराशाही होता है उतना लोग मर गए इतने लोग मर गए हर दिन पेपरों में सुनते ही हैं सब जगह में तकनीकी लगता ही है कोयले को मैंने कोड़ने के लिए भी वो बारूद लगता ही है ठीक है ठीक है तो ये सब चीजें बारूदों की कहां जरूरत है वही बारूद को है एक यंत्र को चलाने के लिए हम उपयोग कर लेते हैं तब क्या हालत होगा कैसा रहेगा यदि वो बारूद से वातावरण प्रदूषित ना होता हो मानव के लिए हितकर हो बारूद से चलने वाले हम यंत्र को नहीं बना सकते बना सकते हैं कि नहीं बना सकते क्या आपका कहना बारूद जब वो इसको कोयले को फोड़ता है पत्थर को फोड़ता है बिल्डिंग को गिराता है ठीक है ये सब सुनते हैं कि नहीं का प्रयोग करें उसकी आवर्तनशीलता है कि नहीं वही वही यदि वही आवर्तनशीलता होने की स्थिति में उसको इसमें भी उपयोग कर सकते हैं रेलवे इंजन में है ना या और कोई बड़े बड़े यंत्रों में हम उपयोग कर ही सकते हैं जैसा बुलडोजर वगैरह है ऐसे में उपयोग कर ही सकते हैं उसकी व्यवस्था भी हो सकती है उस तकनीकी में कोई तकलीफ नहीं है यदि वो बारूद की इसमें प्रदूषण से इंधनावशेष से यदि वातावरण बिगड़ता नहीं है और उसके उससे कोई विपदा पैदा नहीं होता है उस स्थिति में उसको भी उपयोग कर सकते हैं वो बढ़िया स्रोत भी है हाँ, लेकिन ये निश्चयन करना हाँ? हाँ, है निश्चयन करना अपना काम है और तकनीकी है वो तकनीकी है इसको इसको परीक्षण निरीक्षण पूर्वक निश्चयन करना भी तकनीकी है हाँ। ठीक हाँ। है वो रिसेन करने के बारे में अभी कई चीजों को अपन एक सरसरी तौर पर निश्चय कर सकते हैं जैसा अभी बताया प्रवाह बल को हम यंत्र के क्रियाकलाप में नियोजित कर सकते हैं एक पहचान सरसरी तौर पर उसको प्रयोग करके सिद्ध करना तो बाकी है ही है ठीक है ना ठीक है कि नहीं तो ऐसे प्रवाह बल की मैंने उपलब्धियों को देखने पर लगता है ये प्रचुर मात्रा से हो सकता है ये तो बात सही और प्रयोग सिद्ध करने की कार्यक्रम में हमको लगना ही होगा प्रयोग सिद्ध नहीं करेंगे तो कैसा होगा प्रयोग सिद्ध करते हैं वही तकनीकी है ठीक बात है उद्देश्य बन जाने से उसके योग्य तकनीकी हम उपलब्ध कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं तैसा भी कर सकते हैं जैसा ये ही है ऐसा खड़ा किया है तैसा भी खड़ा कर देता है यही करते हैं ऐसे भी घुमा देता है तैसा भी घुमा देता है ये सब करते ही है ठीक है तो हमारे जो मानसिकता है मानव मानसिकता है तो लक्ष्य को यदि पहचान लिया ये ये होना चाहिए उपलब्धि उसके लिए जो युक्तियों को खोज लेता है वही तकनीकी है तो वैसे ही सारा जो यंत्र जो बने ही है ऐसा कार्य करने वाले यंत्र बनाना है एक उद्देश्य बनता है ऐसा कार्य करने वाले यंत्र बना लेते हैं बनाए इसी विधि से आगे भी हम कोई उद्देश्य पहचानते हैं उसके योग्य यंत्रों को हम बना लेते हैं ये बात ये बात आती है तो आवश्यकता के आधार पर जो वस्तुओं का पहचान होता है लक्ष्य पहचान होता है उत्पादन की लक्ष्य उस उत्पादन के लिए योग्य यंत्रों को बना लेना मनुष्य की हाथ की खेल है ऐसा मेरा सोचना है ठीक है ये और यंत्र बनने के पश्चात वो कैसा उपयोग करता है वाला बात आई अब जो है ना अस्तित्व विधि से हम यंत्रों को उपयोग करेंगे बात ये ठीक है